और आप उन्हें जागता हुआ ख्याल करेंगे हालांकि वो सोए हुए हैं और हम उन्हें दाएं और बाएं करवट दिलाते हैं और उनका कुत्ता गार की दहलीज पर अपने बाजू फैलाए हुए है आप उन्हें झांक कर देखें तो ज़रूर भागते हुए उल्टे पांव फिर जाएं और आपको ज़रूर उनकी दहशत से भर दिया जाए